और अगर हम चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग जरूर दिखा दें फिर यकीनन आप उन्हें उनके चेहरों से पहचान लें और आप उन्हें अंदाज कलाम से भी जरूर पहचान लेंगे और अल्लाह तुम्हारे आमाल जानता है